ए मेरे रब मुझे नमाज कायम करने वाला बना और मेरी औलाद में से भी ए हमारे रब और मेरी दुआ कबूल फरमा